उस समय विवेक तो नष्ट हो जाता है पहले ही उसके अंदर राक्षस भाव और ज्यादा भर जाता है तीन भाव होते हैं एक मोहन है एक असुर आसुर है और एक राक्षसी भाव मोहनी राक्षसी आसुर ये आसुर संपत्ति के तीन रूप बताए तो जहां काम की जागृति है वहां मोहनी संपत्ति है और जहां अर्थ की ये लोभ की जागृति है वहां आसुरी भाव है और जहां क्रोध की जागृति है वहां राक्षसी भाव है तो राक्षसी भाव से ये परिपूर्ण हो गया और मन मने से निश्चय के इसके साथ बहुत से लोग आए थे इसके साथ बहुत से राक्षस वो भी सब वो आ रहे थे शून्य पथ से तो उसे उसने कहा निश्चय करके दुख तुम लोग यहीं रहो और अब बस मैं नीचे उतरता हूं और जो ही मैं नंद पुत्र का विनाश करूं कि तो तुम लोग तुरंत दौड़ के जाना और हमारे कंस राजा बड़े उत्कंठित हैं और बड़े उद्विग्न हैं तो तुम जाके तब सारे सारे समाचार देर से पहुंचो तुम लोग अंतरिक्ष चारू मन में गए तो तुम लोग देखते हो तो तुरंत जा करके सब कह देना कि तुम्हारा काम हो गया तुम निष्कंटक हो गए तो ये सोच करके और वो नाना प्रकार की माया को जानने वाले वो नाना प्रकार के युद्ध धारण करने वाले उनको वहां रहे और ये अभासुर जो है ये अब भगवान के हाथों से भगवत धाम प्राप्त करने के लिए भगवान ये तो मारना चाहता है भगवान को भगवान से तारना चाहते हैं ये बड़ा अंतर है ये ये सोचता है मारने की बात भगवान सोचते हैं कैसे इसका इसके अध का नाश हो जाए अधदेह का नाश हो जाए और ये मेरे धाम में पहुंचे यही भगवदियों का असुर का अंतर होता है असुरों के जो अनुयायी होते हैं जो अघासुर के साथ आए आकाश में बैठे वो सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण का निधन हो जाए और संत लोग क्या चाहते हैं भगवान के प्रेमी भक्त कि सारे के सारे जो दुर्वृत्त हैं दुष्ट हैं ये सब विशुद्ध होकर के भगवत समारबिंद का प्रेम प्राप्त कर लें ये अंतर क्यों अंतर है कि उनके भगवान का यही मन है कि सबका उद्धार हो और इनके इनके मालिक अभी मेरा सबका नाश हो इस प्रकार नाश होने की कामना वाले ये ऊपर रहे और अघासुर अपने इस अव शरीर के विनाश के द्वारा भगवान के मंगलमयी भगवान की इच्छानुसार भगवत धाम की प्राप्ति के लिए ये थोड़ी दूर पर भगवान के ये नीचे उतरा हरिओम तत्सत वंदे मुकुंद मरविंद जलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपदेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहम् वसुदेवसूनम् नवजलधरवरणम् चम्पकोद्भासिकरणम् विकसित विकसितनलिनास्यम् विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरो तस्याजगरम् बृहद्वपुः स्वयोजनायामिनः द्रुपीवरम् धृत्वाद्भुतम् व्याप्तगुहानन्तवा खल धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो दर्याननान्तो गिरिशृङ्गदृष्टः ध्वान्तान्तरास्यो वितता भुजिह्वः क्षण दृष्ट्वा तम तादृशम् सर्वे मत्वा श्रिय व्याप्ता जगर जगरतुन्दोर्युत्प्रेक्षन्ते स्मरेणया अहो मित्राणि गदत सत्त्वकूटम् पुरस्थितम् अस्मत्सन्दसनव्याप्तव्यालतुम् जायते न सत्यमर्ककरारक्तामुत्तराहुर्वद्घनम् अधराहुर्वद्रूपस्तत्प्रतिच्छाययारिणम् प्रतिस्पर्धेते शक्तिभ्याम् सव्यासये तुङ्गशृङ्गारयोक्तीकास्दस्त्वाभिश्च पश्यत आश्रितायामनार्गूयम् रसनाम् प्रतिगर्जति तेषामन्तर्गताद्वैतमिदगत्यन्तरानम् दावेष्णुखरवातुयम् श्वासमद्भाति पश्यत तद्दग्धसत्त्वदुर्गन्धोऽप्यन्तरानिषगम् अस्मान् किमत्र गचिता निविष्टाम् नयम् तथा चेद्बकवद्विनक्ष्यति क्षणादिनियतिवकार्युषन्मुखम् वीक्षे करता विक्षोभसन्तकर्तारवीर्ययोः मन में बड़ी बुरी नियत करके अघासुर नीचे उतरा उस समय यहां दौड़ लग रही थी ये बच्चों के साथ श्री कृष्ण दौड़ रहे थे तो और दौड़ में बार बार हार रहे कौन छुए पहले तो श्री कृष्ण तो छू नहीं सकते हार जाते और बच्चे सब जीत रहे बार बार एक बार हार जाए फिर बोले अब की चलो थे दोबारा दूसरा बच्चा जीत जाए ये हार गए तो इस प्रकार भारत बन हमें जन बरसे ते राजा सुप्रथम ही परसे बोले जो पहले छू ले वो राजा बन शोभा को लखन हित कृष्ण दूर जब जात तब सब बालक देर कम प्रथम प्रथम होतात हम पहले हम पहले हम आगे हम आगे इस प्रकार श्री कृष्ण को हराने की योजना बनी और तमाम बालक ही जीत रहे तो दौड़ते सब दुर्द कौन से दौड़ता है ये कमिया दौड़ता है कि हम दौड़ते ये बहुत माखन खाता है मोटा उछला देवा नहीं जाता इससे ये पीछे रह गए कृष्ण स्तर स्वी किमो हो वयंगा जानी तभू तो भ्रातर इतुरीय धावन तयते त्वरया श्री कृष्ण महारागति चक्र मुस्तम हार रहे बिचारे श्रुतियां संकेत करती हैं कि परमेश्वर अचल है और ये भी कहती है कि मन से भी तीव्र गति है चलती भी नहीं और सबसे आगे उन्हें जो देखकर मन से जो यह सबसे आगे बढ़ जाते हैं तो इनका अतिक्रमण कौन करे पर आज इनका ये दौड़ना भी अचल का अचल होना और नित्य जित का पराजित होना ये बहुत बड़ा चमत्कार है ये मधुर लीला बिहार जो है इनका बस यही ऐसा कर रहा है तो अब लीला शक्ति की बड़ी अद्भुत ये प्रेरणा है जो बच्चे कभी श्री कृष्ण को छोड़ करके दूर जाते नहीं क्षण भर में जो व्याकुल हो जाते हैं वही आज लीला शक्ति की प्रेरणा से जिधर ये बैठा था आकर अजगर ये उसी तरफ में जाने लगे बोले अब श्री कृष्ण को याद नहीं करते हैं बोले अपने मन की शोभा देखनी है वो तो जाता नहीं खड़ा है और अपने चलो देख यहां तो मन की शोभा देखने के लिए ये सब के सब श्री कृष्ण को पीछे छोड़कर आगे दौड़ने लगे अब ये सब उनकी लीला शक्ति की प्रेरणा है नहीं तो ये बच्चे कभी क्षण भर के लिए भी छोड़कर अलग नहीं होना चाहते आज सब श्री कृष्ण को पीछे छोड़कर और ये धीरे धीरे अजगर की ओर जाने लगे और ये पीछे रह गए जान कर ही रहे पीछे क्योंकि मिलाकर नहीं है तो इसने क्या किया इसने सोचा कि अब उनको छल करना चाहिए सीधे जाना तो ठीक नहीं तो इसने बनाया अजगर का बीच अजगर तो था ही साफ हो गया जैसे कुछ साफ हुआ था ये कथा आती है कि ये अष्टावक्र मुनि के साप से ये राक्षस रहा ये सांप हो गया था तो ये तो पर ये माया भी था तो सांप रहते हुए भी ये विविध रूप धारण कर लेता ये पहले शंखासुर का पुत्र था ये और बड़ा सुंदर था दैत्य होने पर भी परम सुंदर था ये और अपने रूप के सौंदर्य के गर्भ में ये अंधा रहता था अलग अलग गर्भ होते हैं धन गर्भ विद्या गर्भ रूप गर्भ बल गर्भ तो ये था रूप मद में उद्धत तो अष्टावक्र मुनि उनके आठ जगह तैर रही शरीर में आठ जगह से वो तैर रहे तो एक एक दिन उधर जा निकला तो इन, इसको तो रूप का अभिमान और वो कुरूप तो उनको देख करके ये हंस तो और बार बार बार बार हंसने लगा मुनि बहुत भेज धाये रहे कुछ बोले वोले नहीं उधर ध्यान ही नहीं पर भगवान की लीला बोले देखो ना ये कैसा बदसूरत है आठ जगह से टेढ़ा ठीक चलता भी नहीं और ज्ञानी बना फिरता है लोग भी मुख उसको हाथ जोड़ते हैं बदसूरत को इस प्रकार वो सुना सुनाकर बार बार व्यंग करने लगा तो मुनि के ध्यान में बात आ गई अब किसी प्रकार संग हो गया ना भगवान का दर्शन होना चाहिए इसको बीच में थोड़ा सा तप करवा कर तो मुनि को क्रोध आ गया तो असल में वो क्रोध नहीं है ये भगवान की लीला शक्ति जब किसी लीला का आयोजन करती है तो वो किसी को भी यंत्र बना लेती है तो मुनि के क्षोभ रहित मन को भी लीला शक्ति ने यंत्र बनाया और उनके मुंह से निकल पड़ा तुम सर्पो हो ब्रह्म थे कृपा बकरवा जाति सर्पा नाम भूमि मंडले दुष्ट बुद्धि तो जा सांप हो जा इस सर्पों की जाति बड़ी भयंकर कुकुरी कुरू पर कुटिल गति वाली है टेढ़ी चलती है सीधे नहीं चलते सांप तो बस वो जब सांप मिला तो मद उतरा जब तक जो मदोन्मत्त होते हैं लोग उनके मद के उतार देने का उतार देने की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक समझाने से उनका मद उतर जाए सो नहीं होता समझाने जाने वाले पर उल्टा वो कोड करते हैं और उसको और भी ज्यादा व्यंगदानों से मारते हैं लेकिन जब उन पर जब उनको शिक्षा मिलती है चोट लगती है तब वो उनका मद उतरता है तब वो चेतते हैं तो मद उतरा तो पड़ गया चरणों में अष्टावक्र मुनि के बोले महाराज मुनि तो रूप के मद में पागल हो रहा था मुझे अपने सामने कोई दिखता ही नहीं पर आपके दीखे मुझे आस अंग टेढ़े तो मेरे से प्रमाद हो गया क्षमा करो महाराज ये तो क्षमा मूर्ति रहे इनमें क्या क्रोध है इनका क्रोध तो खेद होता है तो प्रसन्न हो गए श्रीकृष्ण वस्तु तमोदर जदा गच्छित सर्प रूपा तदा मुक्ति भविष्य बोलो करोड़ों करोड़ों देवों के दर्प को चूर्ण करने वाले करोड़ों कंदर्पों के लावण्य को लिए हुए जो भगवान श्याम सुंदर हैं ये तुम्हारे पेट में जब प्रवेश करेंगे तब तुम्हारी सर्पयोगी छूट जाएगी और तुमको भगवत धाम की प्राप्ति होगी सो तो वही शंखासुर का पुत्र ये सर्प सांप के शरीर को प्राप्त करके ये असुर हुआ और असुरों के माया शक्ति तो इनमें इसमें थी ही ये यथे रूप धारण कर सकता था और यही अब ये इस द्वापर में आकर और कंस के मंत्रिमंडल का एक सदस्य बना पर उसको वो सरकार विनिवेश कर जाता कि मैं साथ हूं लेकिन पहले की बात भूल गया मुनि के साप की वरदान की ये उसको स्मृति नहीं रही और नाम के अनुसार ही वो अध नाम अध तो नाम के अनुसार ही वो पाप में लगा रहा तो ये इसने सोचा कि अब अपने अजगर का जो असली रूप है उसी को धारण करना है तो वो अजगर का रूप धारण करके वहां पर और रास्ते में लेट गया तो उसने चार कोस लंबा तो अपना शरीर बनाया एक योजन लंबा शरीर बड़ा और बड़ा वो विशाल मोटा बहुत पहाड़ के समान मोटा प्रकांड विकर का रूप धारण करके वो लेट गया तो उसका जो खुला मुंह मुंह खोल लिया उसने तो मालूम हुआ कि ये कोई बहुत बड़े पहाड़ की कंदरा है उसका नीचे का होठ तो जमीन से लग गया और ऊपर का होठ आकाश के ऊंचे बादलों को स्पर्श करने लगा उसके जबाड़े जो हैं ये पर्वत की कंदरा से बन गए और दांत मानो ये पहाड़ों के श्रृंग पर्वत श्रृंग से मालूम होने लगे और मुंह में अंधेरा दिखने लगा और जीव ऐसी उसने वो लंबी करके निकाल ली मालूम हुआ कि सड़क बनी हुई है बड़ी बढ़िया और जो उसको श्वास आ रहे लंबे लंबे इससे मालूम होता कि तूफान आ गया बड़े जोर की हवा चल रही है और आंखें उसकी आग के समान जल उठी ऐसे महान भयंकर रूप में वो वहां लेटा उसका बस उद्देश्य यही कि ये बच्चे मेरी तरफ आए और उनके साथ साथ बच्चों की तो बात गौण रूप से ये कन्हैया सांवला सांवला ये मेरी बहन को मारने वाला और मेरे भाई को मारने विस्तार भकान कृष्ण मुखान सुर कंसान शिष्ट सबकी बकान यह अयम तुम्हें सोदर नाश करतयो द्वयोर मुमैनम सबल मनुष्य ये मेरे भाई को मेरी बहन को मारने वाले इनको मैं अब आज नष्ट करूंगा इस प्रकार वो सो गया तो इन निश्चय कई सो सुर भयो महादप सर्प तुरंता हर कह असन हेतु मत मंदा अद्भुत बप सब दुख की कंदा जो जन भर तन पुष्ट कठोरा गिर सम तुंग भयानक घोरा मुख जन गुहा समान पसारा भूतल अधर एक तुन डारा उत्तर अधर जलद सुगा दार मनु गिर श्रृंग विभागा भीतर अंधकार अति भारी रचना मनु पंथ अनुहारी नयन न कुंड परेरत दुष्ट है छादत श्वास प्रचंड महाबल पुष्ट है अब ये खेलते खेलते उसी तरह तो बन की शोभा निहार रहे थे ना तो इनको दिखा दुष्टादुतादृशम सर्वे मत्वा वृंदावन श्रेयम ये सोचा कि ये भी एक बन की शोभा है बड़ी भारी देखो ये शोभा अब वो छल रहित तो शिशु उनके मन में छल कपट माया है नहीं तो सदासुर के मन में क्या छल था ये तो इनको छू नहीं रहा इन्हें तो देखा ये वृंदावन की शोभा है देख यथासुर रूप मानो ब्रज शोभा मन अजगर तुंग रूप महाभयंकर कालसम ये निष्पाप सब सरल हृदय के बालक इन्होंने उत्प्रेक्षा शुरू की अब ये इनके मन में शोभा है ये वृंदावन की शोभा है अब वो भगवान की लीला शक्ति अचिंत्य उसने सारा उल्टा कर दिया मैंने सांप सांप दिखा जरूर पर उपयोग उपमान बना दिया यहाँ पर बालक चर्चा करने लगे बोले भैया ये देखो तो सही ये हमारे सामने जो इतना बड़ा बड़ा प्रकांड विशाल ये बन की शोभा है ये तो मालूम होता है कोई सांप है बड़ा भारी सांप सा मालूम होता है ये कोई प्राणी को जंतु विशेष है ये और ये सब हमको निगल जाने के लिए मानो ये मुंह वाय पड़ा ऐसा लगता है है तो शोभा तो दूसरे बार को कहा अगर यही तो रहा है भैया तुम तो सच कह रहे हो ना देखो ये सूर्य की किरणों से लाल लाल जो बादल हो गए हैं तो ठीक ठीक ये मालूम होता है कि ये ये अजगर का ऊपर का होठ सा मालूम होता है और ये जो ये लाल मेहू की जो छाया पड़ी जमीन पर और जमीन जो लाल लाल मालूम होती है वो मानी इस इस अजगर का नीचे का होट है अब उल्टी घुमा दे रही है और ये देखो इसके बाएं और दाहिने जो ये बाई बाई बाई जो कंदराए हैं ये मालूम होता है मैंने सांप के जबड़े हूं और ये देखो ना ये इस पहाड़ पर देखो कैसे सुंदर सुंदर ये सफेद सफेद ऊंची ऊंची ये जो इनकी चोटियां सब बंध ये सब बड़े सुंदर लग रहे हैं ये ये मालूम होता है अजगर के दांत से लगते हैं फिर आ गई और ये देखो ये सामने जो बड़ा लंबा चौड़ा रास्ता है सड़क बनी हुई है बड़ी सुंदर ये मालूम ऐसा होता है कि मानव अजगर की जीव हो और ये अंदर जो ये पहाड़ के अंदर जो अंधेरा होता है नीचे छाया हुआ ये मालूम होता है कि मानो अजगर के मुंह का भीतर का भाग सोना भाग ये अरे बोले देखो ये जो आग के समान और गर्म गर्म और बड़ी ये खरखरी हवा जो आ रही है इस पहाड़ से ये मालूम होता है कि मानो अजगर किसका की श्वास प्रश्वास ऐसा मालूम होता है और ये दम में आग लगी ना ये भी शोभा दम की तो आग लगने से जो जीव जंतु बन के सब जड़े तो उसकी जो गंध आ रही है दुर्गंध उससे मालूम होता है कि ये मानो सांप के पेट में गंध आती हो